कही गई कि इंद्रियां बहिर्मुख हैं ये परिच्छिन्न विषयों का ही ज्ञान दे सकते हैं इनका जो साक्षी आत्मा है उनका ज्ञान ये नहीं दे सकते हैं और जो लोग संसार के विषय भोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं वे बुद्धि की दृष्टि से बालक की अवस्था में ही है कराचक कामान अनुयंती बाला वो तो खिलौनों से ही खेल रहे हैं जो धीर पुरुष होते हैं वो अविनाशी अमृत को जान करके उसी का अनुभव करते हैं और संसार के भोग विलास को नहीं चाहते हैं उसके बाद ये बात कही गई कि वो जो परमात्मा है वो कहीं दूर छिपा हुआ नहीं है वो रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैथुन का जिसको ज्ञान हो रहा है ऐसा जो अपना आत्मा है कि उपाधि से पृथक करके जो साक्षी ज्ञान स्वरूप है वो ब्रह्म ही है दूसरी युक्ति ये बताई कि जो स्वप्न और जागृत दोनों के दृश्यों का दृष्टा है और जो इनके विलय काल सुसुप्ति का भी दृष्टा है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित परम ब्रह्म परमात्मा ही है और उसका ज्ञान हो जाने पर शोक की निवृत्ति नहीं होती तो शोक की निवृत्ति हो जाती है उसका ज्ञान हो जा मत्वा धीरो न सोचती धीर पुरुष उसको जान लेता है तो फिर शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है उसके बाद ये युक्ति बताई गई कि स्वप्न और जागृत का साक्षी कौन है ये विवेक करने में तो थोड़ा कठिन पड़ेगा तो ये जो व्यवहार में अपने को मैं सुखी मैं दुखी मध्वरम वेद जो दिन भर में पचास बार अपने को दुखी और पचास बार अपने को सुखी कभी हंसे कभी रोए पागल किसी दशा हो है ना ये आदमी की हालत है ये असल में कुछ मामूली चीज नहीं है ईशानम भूत भव्य ये संपूर्ण भूत और भविष्य से असंग वर्तमान से असंग साक्षात परमात्मा ही है जो अपने को दिन भर में कई बार सुखी और कई बार दुखी मानता रहता है तो सुखी पना और दुखी पना तो बदलते रहते हैं और ये खुद नहीं बदलता है तो ये जो है ये परमात्मा का स्वरूप ही है और इसके बाद ये जुक्ति बताई कि संपूर्ण कारणवारी से पूर्व कारणवारी की उत्पत्ति से पूर्व माने संपूर्ण जगत ये जो है ना अंड अंड है ना तो इसमें पानी पैदा हुआ और उसमें जो आभास पड़ा उससे भी पहले जो आभासी है था वो हृदय में ही हमारे बैठा हुआ है और वही संपूर्ण वस्तुओं के साथ प्रकट होता था मालूम पड़ता है वो हिरण गर्भ पर विचार करो ये असल में तुम जीव व्यस्टि व्यस्टि जीव नहीं हो तुम समष्टि जीव हो और असल में समष्टि जीव जो है वो ज्ञान स्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप से जुदा कुछ नहीं है तो वो एक ये परब्रह्म परमात्मा ही है ये भिन्न भिन्न रीति से एक ही बात समझाई जा रही है कि असल में तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो युक्तियाँ को तो समझाने की अलग अलग हैं लेकिन निष्कर्ष जो सबका है फलितार्थ जो सबका है वो एक है यत्र प्रदर्शिया विषया सनातना यत्र प्रकारो विनम प्रदर्शन है बात तो यही कहनी है कि ये आत्मा जो है ये अगर दुखी होता तो हमेशा दुखी रहता और सुखी होता तो हमेशा सुखी रहता लेकिन सुखी पना और दुखी पना को धूप छाया की तरह है, बदलते रहते हैं और अपना जो आत्मा है जो मैं है, है वो सुखी पने को भी पार कर जाता है दुखी पने को भी पार कर जाता है दृष्टि का भी साक्षी है समस्ती का भी साक्षी है है ना और अपने को नारायण जो देख रहा है कि मैं सबका जानने वाला हूँ वही तो परब्रह्म परमात्मा है तो आप देखो एक नवीन युक्ति से इस बात को समझाते हैं या प्राणेन संभवती अदितिर्देवता वै तिष्ठती गुहा प्रवेश्य तिष्ठती या भूतेभिर्व्यजात एक वै तत् या प्राणेन संभवती अदितिर्देवता वै गुहा प्रवेश तिष्ठन्तीम् या ये अदिति देवता कैसी है बोले देवता मई है तो पुराणों में अदिति की चर्चा आती है वो तो आप जानते ही हो द्वादश आदित्य अदिति के पेट से पैदा होते हैं सूरज किसका बेटा है चंद्रमा किसका है और है आदित्य है ना आदित्य पर दामन जी किसके बेटे हैं तो इसके भीतर रोम रोम में इस अदिति के देवता भरे हुए हैं तो नारायण अदिति क्या है बोले ये प्राण के साथ सर्व रूप में होती है या प्राणे न सह संभवती सर्वरूपेण जो प्राण के साथ सर्व रूप में प्रकट होती है तो ऋग्वेद के पहले ही मंडल में एक मंत्र है और वो मंत्र हमको कितने बचपन से याद है तो आपको क्या सुना मैं जैसे ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते हैं ना तो हमको बहुत छोटे थे तब से ब्याह में यज्ञोपवीत में और कर्मकांड में सम्मिलित होते तो हमारे पितामह और उनके विद्यार्थी शिष्य और पुरोहित लोग स्वस्थि भाषण करते तो उसमें वो मंत्र आता हम लोगों के यहाँ जो स्वस्थि भाषण होता है स्वस्थ इंद्रो वृद्ध श्रवा हाँ, इसका क्रम जरा दूसरे ढंग का है <clears throat> सतम इंदु शरदो रंति देवा यत्राणश्चक्रा जर संपन्नो नाम पुत्रासु यत्र पितरो भवंती मानो मध्यादि शतायुर्गंतो हो इसके बाद हमारे यहाँ बोलते हैं इसी मंत्र के बाद अदितिर देऊ रदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्र विश्व देवा अदिति पंच जना अदितिर जातम अदितिर जनित्वा इसके बाद बोलते हैं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्तसे सुप्रजायत्वाय प्राता अथो जीव सर्व सतम ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति इस क्रम से बोलते हैं तो उस स्वस्थ वाचन में मंत्र आता है अदितिर देऊर अदितिरंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिर जात मदितिर जनित्वा हाँ, इस मंत्र को पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि अदिति क्या है बोले दीव लोक अदिति है अदितिर देव अंतरिक्षम अदिति ही अंतरिक्ष अदिति है माता अदिति है सबकी पिता अदिति है सबकी पुत्र अदिति है सबके वही माता है वही पिता है वही पुत्र है तुम्हें वो माता थे पिता तुम्हें वो विश्व देवा अदिति ही संपूर्ण देवता अदिति है विश्व देवा अदिति जातम अदिति जनित्वा पंच जना अदिति विश्व देवा अदिति विश्व देवता अदिति है और ये पंचजन जो है ना पंचभूत से उत्पन्न बने हुए जितने पदार्थ हैं वहाँ पंचजन शब्द का गंधर्व भी है तो वो दैवत पक्षकार दूसरा होता है अध्यात्म पक्षकार दूसरा होता है विश्व जना आदित्य जातम अदिति ही जो कुछ पैदा हुआ तो सब अदिति है और जो कुछ कारण है सो तो अदिति है कार्य अदिति जनितम जातम अदिति ही जनितम अदिति ही तो कार्य अदिति है कारण अदिति है पंचभूत अदिति है ना मन इंद्रिया आदि जो हैं ये अदिति हैं पुत्र अदिति है पिता अदिति है माता अदिति है अंतरिक्ष अदिति है और दो लोग अदिति है तो ये अदिति क्या है तो निरुक्त में जहाँ अदिति शब्द का निरूपण अदिति अदिति का अर्थ का निर्वचन किया गया है अदिति शब्द के तो वैसे तो अर्थ बहुत हैं बस ऐतिहासिक पक्ष में तो देवताओं की माता का नाम अदिति है ये ऐतिहासिक पक्ष है वो हाँ, ये वेद का पूरा अर्थ नहीं हुआ वो तो पौराणिक अर्थ हुआ बोले अदीना अदिति जो कभी दीन न हो तो अदिति अदीना अदिति ये दीन दीनता क्या है जिसके मन में आता है ना कि हम तुमको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे है ना एक आया भिखारी सामने और उसने कहा हमको दो रुपया दे दो और देने वाले ने कहा कि हम तुमको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे तो कैसा हुआ दीन हुआ हो उसके अंदर दैन्य भरा है वो सोचता है कि अगर हम मुट्ठी बांध के नहीं रखेंगे तो हमको खाने को मिलेगा ही नहीं वो तो ये जाट के बारे में मशहूर है एक कोई जाट था यहाँ कोई हो तो माफ करना बाबा हमको मालूम नहीं है कि आप लोगों में कोई जाट भी बेटा अच्छा, अरे हो सकता है कल कोई तो वो गया दिल्ली <laughs> तो वो जो मस्जिद है ना है? तो दो मस्जिद है एक जामा मस्जिद है और फतेहपुरी फतेहपुरी मस्जिद जो है ना वहाँ गया तो वो बकस बिक रहे थे दीन के बक्सों की बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ गई तो वो गौर से देखे देहात से आया था बेचारा उसने कभी बकस देखे नहीं थे तो दुकानदार ने बुलाया बोले आओ आओ हाँ, आओ हाँ, चला गया भीतर तो बोले देखो ये बकत है छोटा ये बड़ा है ये इतने का है ये इतने का है तुम निकाल ले जाओ अपने घर के लिए तो बोले मैं ले जाके क्या करूंगा तो कहा अपने कपड़ा लगता रखना तो उसने कहा कि कपड़े लगते बकस में रख दूंगा तो मैं क्या तेरी ऐसी तैसी पहनूंगा <laughs> मैं पहनूंगा क्या मेरे घर में तो और कुछ है नहीं है तो दीन कौन है दीन वो है जो ये सोचता है है कि हमको जो ईश्वर ने दिया है वो अगर हम किसी ईश्वर के बंदे को दे देंगे तो फिर हमको ईश्वर नहीं देगा है ना उसी का नाम होता है दीन तो ये अदिति जो है ये अदीना है अदीना अदीना का क्या अर्थ है कि किसी को कुछ देने में इसको कोई हिचकिचाहट नहीं है माने असल में ये समस्ती बुद्धि महतत्व रूपा है तो जैसे महतत्व में सबका अंकुर निकलता है अंगूर भी उसी में से निकले आम भी उसी में से निकले इमली भी उसी में से निकले मनुष्य पशु पक्षी है ना आप जानते हैं कच्छप की संतान है सारी सृष्टि तो कच्चप की संतान है तो उसमें से और तो और ईश्वर भी तो निकलता है ना कश्यप अदिति महातप की ना है? तिनका मैं पूरब बर दिना हाँ। तो वो कश्यप अदिति के संयोग से तो ईश्वर भी पैदा होता है नारायण अदिति उसका नाम अदिति है हाँ, इसको प्रज्ञा बोलते हैं हो हाँ। प्रज्ञा इसका नाम प्रज्ञा है समष्टि प्रज्ञा और प्राण माने समष्टि प्राण तो प्राण की उपाधि से प्राण जो है वो हिरण्य गर्भ चैतन्य की प्रधानता से है और प्रज्ञा जो है वो वृत्ति की प्रधानता से है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये दोनों जो समष्टि में हैं तो क्रिया शक्ति को समझाने के लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है और प्रज्ञा शक्ति को समझाने के लिए अदिति शब्द का प्रयोग किया गया है तो इन दोनों की उपाधि से प्राण न हो तो प्रज्ञा में अंकुर न उदय हो और प्रज्ञा न हो ये अंकुर जितना उगता है ना बीज में से अगर उस, उसमें हवा समाई हुई न हो तो बीज को फोड़ करके उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता हो प्राण की उपस्थिति उसमें आवश्यक है जहाँ प्राण होगा वहीं अंकुर निकलेगा जहाँ प्राण नहीं होगा वहाँ अंकुर नहीं निकलेगा और उपादान ही नहीं होगा तो अंकुर किसमें से निकलेगा है तो उपादान आत्मी का प्रज्ञा और कर्म कर्म शक्ति क्रिया शक्ति से आहित है ना जो प्राण ये प्राण और प्रज्ञा से ये समूची सृष्टि उत्पन्न होती है बोले इसमें परमात्मा क्या है तो बोले केवल प्राण है तो केवल प्राण नहीं है न प्राणी नो पानी नो जीवो जीवती कश्चन इतरे न तो जीवंती यस्मिन नेता उपाश्रित केवल प्राण का नाम परमात्मा नहीं है और केवल अपान का नाम भी परमात्मा नहीं है, है? प्राण और अपान साप का निकलना और भीतर जाना है ना प्राण वायु और अपान वायु प्राण और अपान दोनों जिस चैतन्य के आश्रित हैं वो परमात्मा का स्वरूप है जब तुम बोलते हो ना मेरा प्राण है ना मेरा अपान मेरी सांस निकली और मेरी सांस भीतर आई तो ये सांस का भीतर आना और बाहर जाना ये दोनों किसके आश्रित हैं कि चैतन्य के आश्रित हैं यदि चिदाभास शरीर के भीतर नहीं गए तो सांस का आना जाना बंद हो जाएगा जैसे मुर्दे में सांस का आना जाना बंद हो जाता है तो उस चिदाभास का जो मूल है चैतन्य उस चेतन के ही आश्रित प्रज्ञा भी है और प्राण भी है व्यस्ति बुद्धि और व्यस्ति प्राण और समष्टि बुद्धि और समस्ती प्राण तो जा प्राणेनो संभवती अदितिर देवतामयी ये अदिति कैसी है बोले देवता मई है देवता मई का अर्थ क्या है आकर ये चक्षुर देवता श्रोत्रम देवता स्वर्ग देवता घ्राणो देवता वाग देवता है ना ये वाणी जो है वो देवता है नासिका देवता है काम देवता है त्वचा देवता है क्यों तो देवतनाथ ये विषय को प्रकाशित करते हैं आंख रूप पर की तरह पड़ती है और उसको चमका देती है है ना काम शब्द को पकड़ लेता है नासिका गंध को पकड़ लेती है जिह्वा जो है है ना वो रस को पकड़ लेती है आंख रूप को पकड़ लेती कैमरा है ना ये देवतामयी ये सब देवता है अपने शरीर में तो ये अदिति जो है ये संपूर्ण देवताओं को शक्ति देती है और दैन्य नहीं करती <coughs> तो ऋग्वेद में एक जगह अदिति का बड़ा विलक्षण वर्णन आया है वो क्या है वो भी विलक्षण है आपको ये तो पुराणों में आपने सुना होगा क्योंकि शिव पुराण भागवत आदि आप ज्यादा सुनते हैं ना कि शिव के बेटे कौन है गणेश पार्वती के बेटे हैं गणेश और शिव के बेटे हैं स्कंद है ना उसमें पार्वती की प्रधानता गणेश में है हाँ शिव की प्रधानता से गणेश नहीं है और उमा पुत्र है वो उमा तो कम शोक बिना सकारकम है तो उसमें माँ की प्रधानता है तो ये तो आप जानते होंगे कि शिव के बेटे या गौरी के बेटे गणेश हैं लेकिन गणेश के बेटे शिव हैं ये बात आप नहीं जानते होंगे हैं? हाँ इसका कारण क्या है क्या इसका कारण ये है कि आप गणेश पुराण को सुनते नहीं है है? गणेश की जो कथा पुराणों में आती है ना वो तो श्रवण करते नहीं है हाँ। विष्णु के बेटे शिव हैं कि शिव के बेटे विष्णु हैं दोनों प्रकार का वर्णन मिलेगा हो हाँ। तो ये अदिति का जहाँ वर्णन है वेद में बड़ा विलक्षण है हाँ। अदितेर दक्षा दक्षा दक्षा दो अतिथि ही दक्षाद अदिति दक्षाद उ अदिति दक्षाद्वदिति ही दक्षात उ अदिति अदिति से दक्ष पैदा हुआ और दक्ष से अदिति पैदा हुए तो निघंटू में यास्क महर्षि ने ये प्रश्न उठाया नारायण निघंटू में ये प्रश्न उठाया गया या निरुक्त में ये प्रश्न उठाया गया कि कथम विरुद्ध में रोचित है ये बात भला कैसे कही जाती है कि अदिति से दक्ष और दक्ष से अदिति एक बताओ कि दोनों में से कौन किसका बेटा है बोले तो भाई समान जन्मान हो ये दोनों समान जन्मा है कोई पूछे कि पहले हिरण्य गर्भ कि पहले महाकर्भ आप बता दो चैतन्य की प्रधानता से जिसका नाम गर्भ है, है प्रकृति के विकार जड़ तत्व महत तत्व की जड़ तत्व की प्रधानता से उसी का नाम महत तत्व है जड़ता की प्रधानता से उसी को महत तत्व कहते हैं और चैतन्य की प्रधानता से उसी को गर्भ बोलते हैं अच्छा तो दोनों में कौन किसका बाप कौन किसका बेटा तो जहाँ महत्त्व है वहाँ हिरण गर्भ है जहाँ हिरण गर्भ है वहाँ उसका हिरण गर्भ के शरीर का नाम महत्त्व है और महत्व की आत्मा का नाम हिरण गर्भ है, है? नारायण तो बोले समान जन्मानव ये दोनों समान जन्मा है अपेक्षा से जहाँ चेतन की विशेषता बतानी होती है वहाँ कहा जाता है जड़ का कारण चेतन है और जहाँ जड़ की विशेषता बतानी होती है, है? हाँ हाँ ऐसे कहा जाता है कि हिरण्य गर्भ का कारण जड़ है महत्व की उपाधि से हिरण्य गर्भ हुआ जब जब परमात्मा के साथ महत्व की उपाधि जुड़ी तब हिरण्य गर्भ पैदा हो गया गर्भ भी पैदा हुआ बोले कि भाई हिरण्य गर्भ से महातत्व जो है वो प्रकट हुआ ये बात क्या हुई दक्षाद्वदिति ही अधिकेर दक्षा तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो हमारे शरीर के भीतर बुद्धि काम करती है और प्राण काम करते हैं दोनों काम करते हैं कि नहीं ये हाथ उठा तो प्राण यदि ना होता तो हाथ नहीं उठते ना जिनको लकवा लग जाता है है ना वो हाथ उठाना चाहे तो नहीं उठता है उनका पक्षाघात हो गया वहाँ प्राण काम नहीं करता है अच्छा बुद्धि से उठाते हैं कि भाई अब उठाना चाहिए हाथ कि नहीं उठाना चाहिए तो बुद्धि ने आज्ञा दी कि उठो तो बुद्धि वृत्ति और प्राण दोनों को मिला करके ये हाथ उठाने की और गिराने की क्रिया होती है अब परमात्मा को यदि आप पहचाना चाह, पहचानना चाहते हैं तो ये समझदारी और ये कर्म है ना दोनों का जो आश्रय है दोनों से जो उपलक्षित है है ना जो बुद्धि के द्वारा सोच रहा है और प्राण के द्वारा उठा रहा है जो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा है और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जान रहा है जो शरीर के रूप में द्रव्यात्मक है और अंतकरण के रूप में वृत्यात्मक है इनका जो आश्रय है अहम है ना इनका जो आश्रय है अहम वो कहाँ है गुहाम प्रविश्य तिष्ठी वो इसी हृदय रूप गुहा में प्रवेश करके रह रहा है, है? और जा भूते फिर ब्रजाए तो यही आकाश की प्रधानता से श्रोत्र और शब्द बन गई और यही वायु की प्रधानता से त्वचा और स्पर्श बन गई और यही अग्नि की प्रधानता से वाक और बक्कर बन गई है नेत्र और नेत्र और रूप बन गई तो इस तरह से यही अदिति जो है और यही प्राण जो है वो इंद्रिय के रूप में विषय के रूप में देवता के रूप में है ना और वृत्ति के रूप में यही सब प्रकट हो रहे हैं है? इनका आश्रय कौन का मैं है और ये जो आश्रय भूत मैं है ये मैं परमात्मा का स्वरूप है ये तद वही तत् है यही जो सर्वाश्रय यही जो यही जो प्राणाश्रय आदित्याश्रय है ना और गुहाश्रय और भूताश्रय रूप से विराजमान जो हमर्थ है ये कौन है वो ये वही तात यही वो ब्रह्म है कौन तो जो धर्म धर्म से परे है जो कार्य कारण से परे है जो भोक्ता भोग से परे है जो दृष्टा दृश्य से परे है ये वही है भूत भूत ही समन्वयता व्यजायत भूत भूतों से युक्त हो करके विविध रूप में प्रकट हुई ये विविध रूप से प्राकट ये जिस प्राण समन्वित अदिति का है उस अदिति से उस अदिति का आश्रय उस अदिति से अवच्छिन्न उस अदिति से उपलक्ष्य जो शुद्ध अहम पद का अर्थ है है ना वो अहम पद लक्ष्या कौन है बोले तद वैसा वही तत्पद लक्ष्यार्थ है वही ब्रह्म है अब दूसरी जुक्ति से इस बात को समझाते हैं नारायणोर निहितो जात वेदा गर्भ सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिव ईडियो जागृवद्भिर हविष्मद्भिर मनुष्य भी अग्नि ए तद वही हाँ, ये मंत्र भी ऋग्वेद में तीसरे मंडल में आया है तो वहाँ अग्नि की स्तुति में आया है यहाँ जरा आत्मदेव का निरूपण भी करता मंत्र तो वही है लेकिन यहाँ ये सब वही तथ है और वहाँ एक वही तत् नहीं है एक वही तत् हो जाने से यहाँ अर्थ बदल गया एतद तत् अरे आओ आओ तुम्हें ईश्वर लिखा में कैसा है बोले कि तुमने कभी यज्ञ देखा है यज्ञ तो उसमें अरणी मंथन करते हैं जो शमी शमी की लकड़ी से अरणी बनाते हैं तो वहाँ आग पहले कहीं नहीं रहती है जब मंथन करते हैं तो अग्नि उसमें से निकल जाती है अरण्योर निहितो जात वेदा ऊपर की अरणी को उत्तरारणी बोलते हैं और नीचे की अरणी को अधरारणी बोलते हैं उत्तर माने ऊपर ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो है ना वो उत्तर को ऊपर मानते हैं और दक्षिण को नीचे मानते हैं जैसे भारत माता है उसका सिर है हिमालय और पांव है कन्याकुमारी पार्वती जी को शंकर जी से ब्याह करने के लिए तप करना हुआ ना तब तो उन्होंने सोचा कि यहाँ एक तो हमारे माँ बाप हैं ये तप नहीं करने देंगे रोने लगेंगे बुलकने लगेंगे ले बेटी है ना थोड़ा खा लो तपस्या नहीं करने देंगे जहाँ माँ बाप हो ना जहाँ ज्यादा प्रेम करने वाले लोग हों वहाँ तपस्या नहीं करने देते हैं अच्छा शंकर जी भी हिमाचल की ही एक चोटी पर रहते हैं कैलाश पर तो पार्वती ने सोचा कि उनको पता लगेगा कि हमसे ब्याह करने के लिए सब करती है तो बड़ी शर्म की बात होगी है? तो चुपके से हिमालय की बेटी शंकर जी के लिए तप करे और पहुंच गई कन्याकुमारी है ना दूर पहुंच गई हो वहां जाकर उसने तप किया कि हम शंकर जी से विवाह करेंगे तो अरण्योर निहितो जात वेदा जो उत्तर उत्तरारण्य तो महातीय पंडित लोग जो है ना उत्तर को उत्तर को ऊपर मानते हैं सिर मानते हैं और दक्षिण को निम्न मानते हैं तो उत्तरारणी और अधरारणी इनमें जो जात वेदा अग्नि जो छिपे रहते हैं वो प्रकट होते हैं ना आग रहती है कि नहीं रहती अरणी में क्या बोले रहती तो है रहती है तभी तो प्रकट होती है तो ये तुम्हारे हृदय में परमात्मा छिपा हुआ है बता प्रकट करने के लिए क्या चाहिए बोले मंथन चाहिए तो लकड़ी में तो लकड़ी से मंथन करते हैं तब आग निकलती है हृदय में काय से मंथन करें तो हृदय में हृदय से मंथन करना चाहिए जैसे लकड़ी का मंथन लकड़ी से होता है वैसे हृदय का मंथन हृदय से होगा तो उसमें उत्तरारणी और अधरारणी कैसे बनेगी है तो वो वर्णन आता है कि शिष्य जो है है ना शिष्य और गुरु शिष्य उत्तरारणी है गुरु उत्तरारणी है और शिष्य अधरारणी है शिष्य नीचे की लकड़ी है गुरु ऊपर की लकड़ी है और सत्संधानम प्रवचनम और प्रवचन जो है यही मंथन है ना और इससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है गुरु और शिष्य दोनों अरणी हैं और प्रवचन जो है प्रवचन ये संधान उस आग को जगाने के लिए ज्ञानाग्नि को जागृत करने के लिए मंथन क्या है बोले प्रवचन ही मंथन है क्योंकि कोई सोचे कि हम अपने मन से अपने विचार से ही एकांत में बैठ के और इसको जान लेंगे तो ये बात गलत है वो देखो आप लोग बुरा मत मानना बीसवीं शताब्दी के लोग हो है ना बड़े विचार प्रधान विज्ञान प्रधान अपने को मानते हो वैज्ञानिक युग है लेकिन ऐसी मर्यादा है नियम है ऐसा अनुभव है कि बुद्धि में जितने विचार उठते हैं उनका कोई न कोई संस्कार बीज होना चाहिए बिना संस्कार बीज के विचार भी नहीं उठते हैं कोई एकांत में सोचे एकांत में बैठ के कि परमात्मा ऐसा है तो वो दुनिया की कोई बात अपने मन में जो बैठी हुई है उसको परमात्मा के साथ जोड़ करके तब सोचेगा निषेध नहीं कर सकेगा वो संसार में जो वस्तु उसको बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है जैसे एक दयालु आदमी बड़ा महत्वपूर्ण मानता मालूम पड़ता है तो जब वो ईश्वर के बारे में सोचेगा तो यही सोचेगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है क्योंकि वो दयालु के सामने अपना सिर झुका चुका है जिसने उसके ऊपर दया की जिसको उसने पांच रुपया किसी ने पांच रुपया उसको दिया तो भाई ये बड़ा उदार है तो उदार बड़ा होता है और हम उसके सामने छोटे हैं दयालु बड़ा होता है हम उसके सामने छोटे हैं तब वो कहेगा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा ईश्वर वो भी दयालु होगा वो भी उदार होगा वो संसार में जिस जिस के सामने झुक चुका है, है उसकी जो विशेषता है उसको ले जा करके ईश्वर पर आरोपित करेगा इसलिए उसको यथार्थ ईश्वर का ज्ञान एकांत में बैठ करके नहीं हो सकता उसको दूध पिलाने वाली माँ अच्छी लगती थी तो एकांत में सोचेगा कि ईश्वर माँ आए है ना उसको भोग करने वाला पति अच्छा लगता था तो एकांत में बैठ के सोचेगी कि ईश्वर तो हमारा पति है वो तो संसार में जिस जिस चीज को तुम बड़ा महत्वपूर्ण पहले मान चुके हो उसका संस्कार तुम्हारी बुद्धि में है और एकांत में बैठ करके ईश्वर के बारे में जब सोचने लगोगे तो उन्हीं अपने संस्कारों को ईश्वर के साथ जोड़ दोगे ये बड़ी भारी कठिनाई है ईश्वर की प्राप्ति में हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो तीस तीस वर्ष निबुरे रह करके है ना एकांत में बैठे किसी से मिले नहीं है और वहाँ से निकला क्या ठन ठन काल हाँ।, हाँ बोले ये निकला कि जहाँ शंकराचार्य की पहुँच नहीं थी जहाँ कृष्ण की पहुँच नहीं थी जहाँ राम की पहुँच नहीं थी वहाँ मैं पहुँच गया अरे है ना नारायण मैं पहुँच गया वहाँ हाँ। ये ठन ठन पाल निकला न ईश्वर की अद्वितीयता का बोध हुआ न परिपूर्णता का बोध हुआ न नित्यता का बोध हुआ न प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्नता का बोध हुआ ये जब अपनी वासना अपना संस्कार लेकर के आदमी एकांत में बैठता है और ईश्वर से बात करने लगता है तो वो अपनी वासना के जाल से बाहर नहीं निकल पाता इसलिए तत्संधानम प्रवचनम इसलिए जो संस्कारों से मुक्त वासनाओं से मुक्त सृष्टि की मान्यताओं से मुक्त है ना जो माया की उपाधि से उपहित के भी है विशिष्ट को भी निषेध कर देने में जो समर्थ है हाँ। उसका जो प्रवचन है वो छिपी हुई अग्नि को प्रकट करने वाला है गुरु है उत्तरारणी शिष्य है अधरारणी और प्रवचन है संधान क्योंकि ईश्वर जो है वो दुनिया में किसी इंद्रिय से जाना हुआ नहीं है कभी मिला हुआ नहीं है कभी देखा हुआ नहीं है है ना एकांत में बैठ करके उसके बारे में सोचेंगे तो अपनी वासना ईश्वर पर लाद देंगे का इसलिए तत्संधानम प्रवचनम पारायणी और निहितो जात वेदा जैसे अरणी में छिपा हुआ है अग्नि परंतु मंथन के बिना वो प्रकट नहीं होता इसी प्रकार गुरु और शिष्य तो सच्चिदानंद सचिदानंद्र सरस्वती हाँ। आओ आओ आगे तो तो गर्भ जातवेदा गर्भिणी भी गर्भ सुभृत सुभृतो भी तो जैसे उत्तरारणी और अधरारणी दोनों होए परंतु मंथन न हो संधान न होए तो अरणी की उपस्थिति से भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा इसी प्रकार गुरु भी होगा और शिष्य भी होगा ये नहीं कि गुरु के सान्निध्य मात्र से बोध हो जाएगा वो चमत्कार की बात है है ना वो विश्वासी लोगों के लिए है ना हाँ तो भाई उनके पास जाएंगे तो उनके शरीर में से हवा निकलेगी हमको ज्ञान हो जाएगा उनको छुएंगे तो हमको ज्ञान हो जाएगा तो वो सब जो शक्तिपात वाली बात है है ना वो शक्ति पातक लोग दूसरे ढंग के होते हैं तो वो, बात ही तो दूसरे हमारे मित्र है ना स्वामी सनातन देव जी मुनिलाल जी हो जिन्होंने अध्यात्म रामायण विष्णु पुराण उपनिषद आदि सबका अनुवाद किया है तो हमारा तीस पैंतीस वर्ष से हम लोग मित्र ही मित्र हैं अब वो सनातन देव जी हो करके हमारे साथ ही रहते हैं वृंदावन में तो उनको शक्तिपात का बड़ा शौक था <laughs> तो किसी के पास जाते तो बोले महाराज मैंने सुना है आप शक्तिपात कर देते हैं तो जरा हमारे सिर पे हाथ लगाइए कि पीठ की रीढ़ दबाइए कि नस दबाइए और शक्तिपात हो जाए तो कई लोगों ने किया तो कुछ नहीं हुआ अब तो लोग बोले कि ऐसे नहीं होगा भाई छह महीना हम कहें सो करो बोले आओ छह महीने करते हैं हमको तो कोई काम तो करना नहीं है है ना कोई हमको समाधान साधन तो करना नहीं है तुम जो बताओ तो ही करते हैं तो छह महीने कर लिया तो तो भी नहीं हुआ तो बोले भाई बारह बरस करो बोले बारह बरस में जब शक्तिपात बारह बरस करने के बाद होगा तो हमको शक्तिपात की जरूरत नहीं है है ना <laughs> और उसमें शक्तिपात की क्या जरूरत <laughs> तो ये सब जो विश्वासु बात होती है हमारे गांव में विश्वासु बोलते हैं विश्वासी लोगों की जो बात है तो वो दूसरी चीज है बिना प्रवचन के उत्तरारणी भी विद्यमान और अधरारणी भी विद्यमान परंतु संधान के बिना जैसे अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती वैसे गुरु शिष्य की उपस्थिति में भी तत्व इत्यादि महावाक्य के उपदेश के बिना और उसका अर्थ ज्ञान कराए बिना ज्ञान आग्नि की उत्पत्ति नहीं होती और यदि किसी को हो जाए तो समझना कि इसने पहले संधान यहाँ हो गया है है ना उसमें ये कल्पना करनी पड़ेगी कि पहले संधान हो गया है अब दूसरा दृष्टांत देते हैं गर्भ सुभृतो गर्भिणी भी तो ये मंत्र ही है ऋग्वेद का ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये मंत्र आता है बस वहाँ ये तक भाई तक नहीं है और सब है <clears throat> तो गर्भ व सुभृतो गर्भिणी भी बोले भाई ये तो लकड़ी और संधान और आग ये सब बाहर की बात सुनाई अब जरा वो बोले कि हमको तो बच्चा चाहिए अच्छा बच्चा चाहिए तो ठीक है बोले हम सब करेंगे और बच्चा होगा अब वो जाके महाराज एक अंत में बैठ गई है ना बोले अब पेट में बच्चा कहाँ से आवे बच्चे के लिए तो पुरुष चाहिए ना पुरुष के शरीर में से बीज आवेगा तब बच्चा होगा तो गर्भ व सुभृतो गर्भिणी भी जैसे पति के द्वारा प्रदत्त गर्भ को गर्भिणी अपने अंदर धारण करती है वैसे गुरु के द्वारा प्रदत्त है ना जो प्रवचन ललिका के द्वारा प्रवचन ललिका के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसको जिज्ञासु लोग अपने हृदय में धारण करते हैं वेदांत की विशेषता ही पहले समझ में आनी चाहिए आपको ये बात आनी चाहिए समझ में कि अन्य प्रमाण से और अन्य उपाय से और अन्य साधन से पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होना शक्य नहीं है प्रमाणांतर का जब तक निषेध नहीं होगा तब तक वेदांत प्रामाण्य की स्थापना ही नहीं होगी अगर युक्ति से ये बात मालूम पड़ जाती तो शाश्वत वेदांत की कोई जरूरत होती अगर आंख सीधी टेढ़ी करने से कोई त्राटक वाटक करने से ये बात मालूम पड़ जाती तो सबकी आंख को पकड़ पकड़ के वैसे ही बनाने का कारखाना खोल देते ना है ना ऑपरेशन कर करके लोगों की आंख को बिल्कुल सीधी कर देते ले ईश्वर देखो अब इससे वैसे मैंने सुना है कि ऐसा भी कभी है ना होता था एक आए सज्जन तो उसके पास बहुत से लोग घेर घेर के खड़े हो गए आगे पहुंच गए बोले हमको ईश्वर का दर्शन कराओ ईश्वर का दर्शन कराओ वो बोले कि ईश्वर तो बिल्कुल दोनों आंखों के सामने ही रहता है हाँ, है ना तुमको दिखता नहीं है क्यों नहीं दिखता है महाराज बोले जो नाक तुम्हारी बीच में आ गई है ना इसके कारण नहीं दिखता हाँ, नाक कटवाओ तो ईश्वर दिखेगा है ना और वो बेचारे ने नाक कटवा दिया बोले महाराज अब तो ईश्वर नहीं दिखता है बोले खाल खुला मैदान दिखता है कि नहीं तो खुला मैदान दिखता है <laughs> बोले यही ईश्वर है <laughs> बोले नहीं महाराज हम तो जैसा ईश्वर देखना चाहते थे ऐसा ये नहीं है कहेंगे तो देखो चुप रहो किसी को बताओ मत तुम्हारी नाक तो कटी गई अब तुम कहो कि तुमको ईश्वर दिख रहा है <laughs> <laughs> तो ऐसे ईश्वर है नाक कटवाने से ईश्वर नहीं दिखता है बोला आंख का ऑपरेशन करके बिल्कुल सीधे सामने की ओर दोनों आंख मिल के देखे तब ईश्वर नहीं दिखता है बोला ये ईश्वर न दूसरे साधन से मिलता है न दूसरे उपाय से मिलता है न दूसरे प्रमाण से सिद्ध होता है न युक्ति से सिद्ध होता है जुक्तियां जिसके सामने नाचती हैं और उपाय जिसके सामने पैदा होते और मरते हैं और साधनाएं जिसके सामने उत्पन्न और नष्ट होती हैं और ये सब है ना कभी प्रतीत होते हैं और कभी नहीं प्रतीत होते हैं किसको है ना जिसको कभी प्रतीत होते हैं और कभी नहीं प्रतीत होते हैं वो कौन है ना वो आत्मदेव है ना वो साधन साध्य नहीं युक्ति साध्य नहीं है ना और वो अपने मन से सोचेंगे तो अपने मन से विचार साध्य नहीं है ना वो तो बताना पड़ेगा कि सबके निषेध के बाद है ना सबका विधान होने पर भी जो सबके विधान का साक्षी है और सबका निषेध होने पर भी जो सबके निषेध का साक्षी है नारायण कौन है नारायण तो बोलते हैं दिवे दिवे ई दिया प्रतिबोध में ऐसे वैसे जिने जिने ई दिया उसका अर्थ वैसे ऋग्वेद में ऐसे है कि प्रतिदिन ये स्तुति करने योग्य है कभी दिवे दिवे ई दिया प्रतिबोध कम मतम जीव माने प्रकाश बोध जितनी वृत्ति उठती है जितना प्रकाश उठता है सब में यही मौजूद है वृत्तियां अलग अलग होती हैं परंतु ये ज्ञान स्वरूप एक है देवे देवे वृत्त वृत्त प्रकाशे प्रकाशे प्रतीत प्रतीत जागृवद जागृवदभिर भी मनुष्य भी अग्निहीन जागते रहो बेटा सोना नहीं सावधान साधु साधु सावधान जागृवद भी हविष्मद भी संपूर्ण विश्व प्रपंच का दृश्य का भोग लगा दो इस अग्नि में हवन कर दो अविष मधुरी मनुष्य भी मनुष्य विचारशील बनो विचारशील हो करके जाग करके संपूर्ण दृश्य कि प्रपंच का इसमें हवन कर दो मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे किनारे पे अगर दृश्य में से कुछ थोड़ा सा बचा के अपने पास रखना चाहते हो कहा तो हाय इसका हम होम कर देंगे तो जिएंगे कैसे खाएंगे क्या है? तो अदिति नहीं हुए ना हाँ, अधीनाश्याम प्रथम मनुष्य ऐसा ही अग्नि देवता बना ये ही अग्नि है हाँ। क्या ये तद वही तत्व जिस ब्रह्म के बारे में तुमने पूछा था ना देवता लोगों को भी जिसके बारे में संशय रहता है जिज्ञासित जिज्ञासा करते हैं विचिकित्सित है देवताओं के द्वारा जो विदित अविदित से परे है जो धर्म धर्म कृत अकृत से विलक्षण है जो विष्णु का परम पद है जो है ना भूत भव्य से परे है जो तो कौन है कौन तुम हो एक अद्वैता